और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा